शन्नो शरणे गुरुया उपलक्ष्य में गीता के जो बात उसके बाद सवर्ण वक्त का बताते बताते उसको कैसा प्राप्त करे कैसा जाने तो उसके लिए बता दिया था सबसे पहले संपूर्ण कर्म है परमात्मा में अर्पण करते हुए अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा का जो ध्यान करता है चिंतन करते हुए उपासना उस भक्त को मैं संसार सागर से उद्धार करता हूं शीघ्रातिशीघ्र वो मुझ में ही प्रवेश हो जाएंगे तो किसी के मन में अथवा अर्जुन के मन में ही जिज्ञासा हो गई भगवान अनन्य भक्ति करना तो सरल नहीं है बहुत कठिन है क्योंकि ये जीव है जन्म जन्मांतर से आ रहे उसके अंदर अनेक वासना बनी ये वासना जो तो आती है अनन्य भक्ति भगवान का चिंतन को कभी कभी हिला देती इसलिए जो अनन्य भक्ति नहीं कर सकते भगवान वो क्या करे तो भगवान ने उत्तर दिया वहां आठवें श्लोक में तो ध्यान करे ऐसा ध्यान करे वो भी बता दिया था आठवें हे अर्जुन जो मन है साधक के अंदर मन को पुष्प माना है और वो जो मन है मुझ में ही लगा हो तो पुनः यहां शंका हो सकती भी नहीं है में कैसा लगा लगावे चंचलम ही मना कृष्णा पीछे प्रश्न किया था ये मन इतना चंचल है इतना चंचल है कैसा लगावे तो बोलो तो भी प्रयत्न पूर्वक उस मन को लगा अर्थात जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें मुझे ही देखो मेरा ही चिंतन करो और जो बुद्धि है बुद्धि भी मुझे में निवेश करो उसके पास मेरे में ही निवास करो उसमें कोई संशय नहीं है तो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे मुझे प्राप्त कर सकते तो अर्जुन के मन में पुनः शंका हो रही ठीक है जो ध्यान करना भी सरल नहीं है बोलते हैं हम ध्यान करते हो भी कठिन है भगवान को ध्यान करने में भी समर्थ नहीं है वो कैसा करे वो आपको कैसा प्राप्त करे तो ये बताने जा रहे हैं कि नब्बे श्लोक आठवें तक हम लोगों ने विचार किया था नौवा श्लोक अतः चित्तम समाधातु न शक्नोषि मई स्थिरम हाँ उच्चारण हो गया था पूरा का पूरा किया था नौवा श्लोक आठ बजे तक विचार हुआ था नौ बजे अतः अतः तो ये थी चिंतन समाधान या चित्त शब्द के अर्थ लेना अंत कर लेना मन बुद्धि अहंकार चित्त है वो नहीं लेना देखिए जहाँ मन कहते हैं चित्त कहते हैं बुद्धि कहते हैं सामान्यता वो अंतकरण ही लेना जहाँ विशेष रूप से हम विचार करते हैं तो मन मतलब निश्चयात्मिक संकल्प विकल्प आत्मक मन है और निश्चयात्मिका बुद्धि है ये विशेष लेने पर तभी उनका अभिमानी देवता भी बदल जाती जैसे वहाँ मन एवं मनुष्याणाम कारण बदला मोक्ष देखिए वहां मन का है मन का मतलब अंतरण मनसा एव आप्तव्यम श्रुति बोल रही वहां मन का मतलब है अंतकरण मन को शुद्ध करना चाहिए उसका अर्थ है वह अंतकरण हाँ जहाँ संकल्प विकल्प होता है विशेष रूप से तभी मन मतलब अंतकरण है वृत्ति विशेष वहाँ वृत्ति विशेष है ना दो है ना वृत्ति वृत्ति मतो नवेदा अंतकरण है उसकी चार वृत्ति है तो चार वृत्तियों को लेकर उनका चार नाम पड़ गए है अंतकरण एक तो इसलिए यहाँ चित्त का मतलब अंतकरण इसीलिए बोल रहे अतः तो ये नहीं चित्तम समाधातुम हे अर्जुन ये जो मन है समाधातु मतलब सम्यक रूपेण आधातु मतलब मेरा ध्यान बिल्कुल आराध्य के साथ एकाकार करके चिंतन करने में न शक्नोशे मई स्थिर मुझ में स्थिर होकर अचल होकर यदि समर्थ नहीं घबराओ मत अरे ध्यान नहीं लग रहे मैं क्या करो कैसे चिंतन करो ऐसा घबराओ मत मई स्थिर समाधान तुम न शक्नोशी तो भी मैं उपाय बता रहा अभ्यास योगे नहान अभ्यास करो अभ्यास देखिए अभ्यास करते करते उसमें एक वैशिष्ट्यत्व आता है इतना अभ्यास होता है जैसा हम महिमना बोलते महिमना पारंते शुरू हो गया अंत में जैसे हो जाते वाणी में एक इतना एक अभ्यास हुआ है मन पूरा दुनिया घूमते भले आगे वाणी पूरा महिमना करे अथवा कोई कंप्यूटर को टाइपिंग करते हैं पहले टाइपिंग करते ये ऐसे अपनी कहाँ ढूंढना पड़ता एक पृष्ठ करने के लिए आपको कम से कम दो तीन घंटा लगेगा बाद में ऐसा अभ्यास हो गया आप कहाँ भी देखो आप अंगुली वहीं जाते थोड़ी इधर गए तो मालूम होता है गलत हो गया ये अभ्यास है यहाँ से हम चलते जाते तो नए नए खुशी सीढ़ी काम ढूंढना पड़ता है और जिनको अभ्यास हो गया अंधकार भी उठा पड़ जाते तो अभ्यास है पैरों में एक आदत पड़ गई वैसे ही हम बता रहे अभ्यास योग तो उस अभ्यास योग के द्वारा तुम प्रयत्न करो हे धनंजय ततो माम इच्छा तुम ततो ततो इस अभ्यास करते करते के बाद माम बोलो विश्वरूप दर्शन ये मेरा सगुण रूप है विश्व रूप दर्शन है उस अभ्यास योग के द्वारा मुझे विश्व रूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करो देखिए साधक हो कोई भी हो जिसके अंदर जब तक प्रबल इच्छा ना हो कोई भी कार्य नहीं होता है इसलिए कहा जानाति इच्छति यदति सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए ज्ञान होना चाहिए किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं है आप क्या करें इच्छा नहीं हो सकती तो सामान्यता ज्ञान होना चाहिए तो ज्ञान होने के बाद इच्छति इच्छा करते देखिए वो इच्छा भी भेद किया उसमें तीव्र मध्यमम लघु जितने तीव्र इच्छा है उतना ही जल्दी या तथी जल्दी प्रयत्न करेगा मध्यम इच्छा वाला प्रवृत्त तो होगा धीरे लघु इच्छा वाला कभी ना कभी पहले जाना उसके बाद इच्छा होती है उसके बाद प्रयत्न इसलिए भगवान बता रहे हैं ये जो विश्वरूप दर्शन स्वरूप परमात्मा है उसको आप तुम बोल दो प्राप्त करने का इच्छा करो अभ्यास करो ध्यान भले भी नहीं हो रहे अभ्यास करो अभ्यास के द्वारा करते करते एक दिन अवश्य प्राप्त होगा तो अर्जुन के मन में पुनः संशय होता है भगवान मन तो कोई सामान्य नहीं है अभ्यास करना भी सरल नहीं है तो इसलिए जो अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो तो क्या करे वो आपको कैसा प्राप्त करे इस प्रकार जिज्ञासा होने पर दसवें श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे ठीक है जो ध्यान नहीं कर सकता है वो अभ्यास करे अभ्यास करने में भी समर्थ ना हो घबराओ मत दसवें श्लोक में भी होता तो ये बता रहे दसवें में देखिए अभ्यासे अपि असमर्थोषि यदि तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं अभ्यास करने में भी मन नहीं लगता है तो अभ्यासों भी असमर्थोषि कर्म तो करेंगे कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता है ये निश्चय कुछ ना कुछ आप कर्म करते रहे तो इसलिए बोल रहे हैं मत कर्म परम भगवान मत कर्म मतलब मदर्थ कर्म का जो भी कर्म कर रहे ये मेरा आराध्य के लिए कर रहे हैं मेरे परमात्मा के लिए कर रहे मेरे गुरुदेव के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ इस दृष्टि से करें उससे क्या होता है अंतकरण शुद्ध होता है यदि मैं कर रहा हूँ मुझे प्रशंसा मिले ये से करने से अंतकरण शुद्ध नहीं भगवान के दृष्टि से गुरुदेव के दृष्टि से यदि निष्काम रूप से कर्म करते हो अवश्य उसका अंतकरण शुद्ध होता है तो इसलिए कर्म योग कहा गया है देखिए कर्म योग माना है कर्म तो होता है ये कर्म भोग होता है ये कर्म योग होता है संसार के लिए हम कर्म करते हैं भोग के लिए कर्म करते हैं कर्म भोग हो गया यदि फल के जगह बिना हम कर्म करते हैं वो कर्म योग होता है तो इसलिए बोल रहे हैं मत कर्म परम भव मदरता में कर्माणी मदरता मतलब परमात्मा मैं परमात्मा हूँ परमात्मा के लिए कर्म तो इसलिए मदर्थम मदर्था कर्म मत कर्म तत्परमा मदर्थ कर्म अर्थात मेरे ही परमात्मा है परमात्मा के लिए ही कर्म करता हुआ सिद्धिम शशि सिद्धि का मतलब यहाँ अंतकरण शुद्ध हो जाएगा अंतकरण हो जाएगा अंतकरण हमारा दर्पण है उस अंतकरण रूप दर्पण में परमात्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है भान होता है जब तक उस अंतकरण में मलिनता है जब तक अंतकरण दूषित है तब तक उस परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर भी हम अनुभव नहीं कर सकते तो इसलिए बता रहे हैं मेरे लिए कर्म करते करते सिद्धिम सिद्धिम बोलता हूँ अंतकरण शुद्धि अवापशि अवापशति मतलब है तो ज्ञान योग के अधिकार बन जाएंगे इसलिए आप कर्म पुनः बता रहे सर्व कर्म का फल जो त्याग करने से उसका फल क्या है कर्म तो करो किंतु फल का त्याग लेकिन कर्मों को त्याग करके आप नहीं ला सकते शरीर यात्रे भी कौनते हैं किंतु आप फल त्याग सकते हैं कर्म के प्रति आसक्ति त्याग सकते हैं कर्म नहीं त्याग सकते कर्म बंधन का कारण नहीं है निश्चय कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बंधन का कारण है कर्म के प्रति आसक्ति कर्म के प्रति लगाव और कर्म के फल के प्रति आसक्ति न कर्म के प्रति आसक्ति है आपको न कर्म के फल के प्रति आसक्ति वो बंधन का नहीं हो सकता तो इसलिए हम बता रहे हैं सर्वकर्म फल त्याग का जो फल है उस त्याग से भगवत प्राप्ति होती है ये बता रहे हैं ग्यारहवें श्लोक में अतएतदी अशुक्तोषी परंतु यदि तू ऐसा करने में भी अर्थात मेरे लिए कर्म करो पहले कहा जाता भगवान के लिए अथवा गुरु के लिए करो पहले कहा जाता चलो ये भी नहीं ये करने में भी संभव नहीं तो अतः ये तदपि मतलब ईश्वर अर्पण से ही करो ये भी समर्थ नहीं कर्तुम मत योगम आश्रिता मत मतलब मेरा ही आश्रित करके परमात्मा का ही संबंध आश्रय करते कम से कम ये तो करो सर्वा कर्म फल त्याग चलो कर्म ईश्वरार्पण को नहीं करेंगे किंतु मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल का त्याग करूँ फल का मतलब फल की आशा कर्म अपने के लिए करो गोया मरते नहीं ईश्वर के लिए मत करो मई कर किंतु उस कर्म का फल है उसमें आसक्ति मत रहो वो भी आपको धीरे धीरे आगे देखिए पहले इसमें अंतर है दसवें श्लोक में कहा दिया जो भी आप कर्म कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर और ये भाव नहीं रहता है साधक में भूल जाता है मैं कर्म कर रहा ये आती हाँ ईश्वर करवा रहे ये भाव कभी आता कोई खराब है दुख आने पर याद आता है अच्छा कर्म में नहीं आता है तभी भगवान ने कहा चलो ईश्वर ईश्वर की दृष्टि रखकर ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ गुरु के लिए कर्म कर रहा हूँ ये भावना ना भी आ जाए मैं कर्म कर रहा हूँ ये भावना थी किंतु जो कर्म कर रहे हैं आप उसके फल की इच्छा छोड़ देंगे ये ग्यारह में बताया दसवें में बताया जो भी कर्म है मैं ईश्वर के लिए कर रहा यद्यत कर्म करो ग्यारह में कहा चलो ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर के लिए कर्म आप कर भी नहीं सकते हैं और फल की इच्छा ये बता ये दोनों में अंतर सर्वकर्म फल त्यागम सारे कर्म जो भी कर रहे हैं फल की त्याग करो ततः कुरु यथात्मवान ऐसा नहीं यथात्मवान यतः संयत आत्मा अंतकरण यश यहाँ संयमित चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर कर्म करते रहो और कर्म फल है उसके प्रति आसक्ति मंत्र हो त्याग तभी भी आप धीरे धीरे मुझे प्राप्त करेंगे लेकिन यहाँ तक भगवान ने अलग अलग तरीका बता दिया साधक को धड़स मान घबराना नहीं एक नहीं तो दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा तीसरा नहीं तो चौथा श्रेष्ठ से लेकर नीचे तक बता दिया साधक इतने साधन भगवान बता रहे हैं उसके बाद भी यदि हम नहीं करें तो दोष किसी का है आगे बता रहे इदानी सर्वकर्म फल त्यागम स्तौति जो ग्यारहवें श्लोक में बता दिया सभी कर्म फल का त्याग करो अंतिम बता दिया अभी उसकी स्तुति कर रहे हैं उसको सबसे श्रेष्ठ बता रहे देखिए ये बता रहे हैं केवल उसकी स्तुति मात्र है अर्थवाद एक अर्थवाद होता है जैसे भागवत में आता है भूमिका में व्यास ने सारे ग्रंथ लेके वेद को भी लिखा तो भी संतोष नहीं हुआ बाद में जो भागवत लिखा था तो भी संतोष हो पाया वेदों से संतोष नहीं हुआ क्या भागवत से भी संतोष होगा ये अर्थवाद है इसी को लेकर कुछ लोग कहते वेद से बढ़कर है भागवत अरे भागवत में जो भागवत तो प्रमाणता आया वेद से दूसरा क्यों भगवान स्वयं बोल रहे तस्मा शास्त्र प्रमाण भगवान नहीं बोल रहे मेरा वचन प्रमाण मत मानो अर्जुन भगवान बोल रहे शास्त्र प्रमाण अर्जुन को बोल रहे शास्त्र का मतलब वेद मूल प्रमाण है हमारा वेद वेद के अनुसार यदि स्मृति बोल रही अठारह स्मृति मान रही उन स्मृति को भी हम प्रमाण मान सकते इसलिए देखिए सांख्य स्मृति को प्रमाण नहीं माना है कबीर की वेद विरुद्ध बताया कुछ पुरुष अनेक माना है प्रकृति को स्वतंत्र माना है पुरुष को भोक्ता माना है तीन अलग माना है एक तो उनके पुरुष अनेक है और दूसरा प्रकृति स्वतंत्र कार्य करती तीसरा है उनका पुरुष भोक्ता वास्तव में भोक्ता तो हम लोग भी मानते हैं वास्तव में नहीं कटोपनिषद में कहा है ना आत्मा इंद्रिय मनोयुक्ता भोक्ता इत्याग मनीषिणा आत्मा को भोक्ता हम लोग भी मानते हैं वेदांति भी मानते हैं किंतु इंद्रिया और मन के साथ संबंध होने से उसमें भोक्तृत्व आती है औपाधिक स्वतः नहीं सांख्य लोग स्वतः मानते हैं यही वेद इसलिए मुख्य प्रमाण है प्रधान है वेद है वेद के अनुसार यदि स्मृति चल रही स्मृति प्रमाण है स्मृति के अनुसार यदि पुराण है ये पुराण भी प्रमाण है पुराण के अनुसार इतिहास है जैसा महाभारत आदि वो भी प्रमाण है और महाभारत आदि जो इतिहास है वेद के अनुसार यदि महापुरुष बोल रहे उसका वचन भी प्रमाण है शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बोल रहे कितना भी महापुरुष को तो नाम पाश्चाचार्य प्रमादवर उपेक्षणे उन्मत्तवर उपेक्षणीय उसको उपेक्षा दो तेरहवें अध्याय में बता दिए इसलिए हम फल की स्तुति कर रहे थे तो यहाँ बता रहे हैं ही बोल तो निस्संदेह ज्ञान श्रेष्ठ तर है ज्ञान श्रेष्ठ तर है किसे से अभ्यास भाष्यकार जी बता रहे अविवेक पूर्वक यह ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान नहीं लेना शास्त्रादि ज्ञान तत्वज्ञान का विषय नहीं लेना है अर्थात जो शास्त्रादि जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है किससे श्रेष्ठ है अभ्यास से जो अभ्यास करना है चिंतन करना कौन सा अभ्यास अविवेक पूर्वक किए हुए अभ्यास किंतु विवेक पूर्वक जो अभ्यास है वो तो ज्ञान से श्रेष्ठ है अभ्यास आप कभी करेंगे पहले आप शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद अभ्यास करेंगे तो शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अभ्यास है ज्ञान से भी श्रेष्ठ है परोक्ष ज्ञान से इसलिए यहाँ जो अभ्यास मतलब अविवेक पूर्वक अब जानते कुछ नहीं अभ्यास कर रहे उस अभ्यास के अपेक्षा ये ज्ञान श्रेष्ठ है ये बोल रहे ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते और उस ज्ञान से भी ज्ञानपूर्वक ध्यान यहाँ भी ये जोड़ना मशकर बता रहे केवल शास्त्र ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जो ज्ञान ध्यान नहीं तो केवल ऐसे ही आप ध्यान कर रहे अरे तो शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ है वो नहीं विवेक पूर्वक विचार पूर्वक जो ध्यान है शास्त्र सम्मत ध्यान है वो ध्यान ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है भाषा का तो इसलिए बोल रहे उस ज्ञान से ध्यानम विशिष्यते ध्यानाद कर्म फल त्याग और उस ध्यान के अपेक्षा से भी कर्म का फल त्याग करना श्रेष्ठ है क्योंकि ध्यान आप कर रहे तो यहाँ तर्क दिए कर्म फल त्याग क्यों श्रेष्ठ है ध्यान करते समय आपका मन कभी कभी चलित हो सकता है कभी नहीं लग सकता है कर्म फल का त्याग कर रहे हैं किंतु आप कर्म कर रहे हैं कर्म में मन लग रहा है और जो कर्म कर रहे हैं हम किसके लिए मेरे लिए नहीं मेरा आराध्य के लिए वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं कर्म भी कर रहे हैं साथ साथ अपना इष्ट का चिंतन कर रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए <clears throat> यदि कोई अपना भगवान की पूजा कर रहे हैं उसको स्नान करवा रहे हैं पुष्प चढ़ा रहे हैं स्तुति कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं तो कर्म करते समय उसके मन में एक भावना आ रही अरे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए जल चढ़ा रहा हूँ मैं भगवान के लिए भोग लगा रहा हूँ कर्म भी हो रहे चिंतन भी हो रहे अथवा मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ कर्म हो रहे चिंतन भी इसलिए ध्यान के अपेक्षा कर्म कर रहे फल के बिना वो श्रेष्ठ है ध्यानात कर्म फल क्योंकि कर्म त्याग नहीं बता रहे कर्म का फल ये कर्म करने से मुझे ये फल मिले अधिक से अधिक जो कर्म करते हैं सकाम करते सकाम कर्म का मतलब फल उद्देश्यण क्रियमाण कर्म फल को उद्देश्य रख के जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म का फल अनपेक्षा फल की इच्छा के बिना केवल मेरा कर्तव्य है शास्त्र बता रहे गुरुजनों ने बताया है इस दृष्टि से जो कर्म करता है वो निष्काम होता है इसलिए बता रहे ध्यान कर्म फल त्याग त्यागा शांति निरंतर त्याग के द्वारा निरंतर बोल तो सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती ये बता रहे यहाँ तक सगुण भक्त है उनका जो निरूपण करने के बाद जो निर्गुण भक्त है तो निर्गुण भक्त का जो साधना और लक्षण बताने जा रहे हैं यहाँ बता रहे जैसे भी ये जो ज्ञानी का लक्षण है साधक के लिए साधना है ज्ञाने का लक्षण होने पर साधक के लिए साधना है तो बता रहे हैं ज्ञानी के लिए यहाँ मतलब भाष्यकार में बोल रहे जो निर्गुण है अद्विष्ट सर्वभूतान आदि के द्वारा उसका वर्णन कर रहे निर्गुण उपासक है निर्गुण भक्ति के लिए देखिए तेरहवा श्लोक अद्विष्टा नाम मैत्रा करुण एवच्छा नाम सर्वभूत बोलो समस्त प्राणी ये नहीं किसी एक में किसी में सभी सभी प्राणियों में द्वेषाभाव किसी के प्रति द्वेष नहीं चाहे तो दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो उसमें भी द्वेष नहीं इसलिए बोले सर्वभूताना अद्वेष्ट तद्वेष अभाव सभी प्राणियों में द्वेष का अभाव तभी संभव है जिसमें एक आत्म तत्व का जो दर्शन कर रहे वही करेगा यदि आपके अंदर भेद दृष्टि है मेरा और तेरा ये भाव द्वेष होना ही है या तो सर्वत्र एक परमात्मा को देख लीजिए अथवा शास्त्र में कहा गया है अपय ममता न कर्तव्य ममता मत कीजिए ये करना ही है सर्वत्र ऐसा कर्तव्य सभी जगह में कर दीजिए सारा ब्रह्म का ही परमात्मा का ही विभूति ममता नहीं करना सबसे उत्तम है यदि करते हो सारे जगत में कर दीजिए क्योंकि परमात्मा की विभूति है पिछले बता सर्वभूता नाम अनुष्ठा और दूसरा बता रहे मैत्र मैत्र मतलब मित्रता रघु शत्रु नहीं सारे मित्र है शत्रु और मित्र है ये हमारे व्यवहार से होते हैं ना कश्यपो में मित्र ना कश्यपो में शत्रु महाभारत में बोल रहे कोई किसका मित्र भी नहीं है कोई किसका शत्रु नहीं व्यवहार जायते मित्र आपके लिए अच्छे व्यवहार है मित्र बनेंगे खराब व्यवहार हो गया वही शत्रु बनेगा मित्र ही इसलिए मित्र भाव है और करुणा करुणा मतलब कृपा दुखी जन है उनको देखकर उसके अंदर एक ऐसी वृत्ति बनती है करुणा करने की करुणा का नाम है कृपा इसको ऊपर उठाने की भावना बनती है उसके अंदर इस कृपा का नाम करुणा है निर्मम कोई उसके अंदर ममता नहीं ममता विषय पदार्थ को लेकर माया और माया का कार्य को लेकर ही ममता होती है उसको लेकर जो ममता है ये बंधन का कारण है इसलिए ममता रहे निरहंकार उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है अरे किसको लेकर आप अहंकार करते हो शरीर को लेकर बुद्धि को लेकर विद्वतों को लेकर ये सब अनात्मा पदार्थ है आज है कल आपको छोड़ के जाएंगे सदा रहने वाले नहीं तो अहंकार करके जो आपका पास अस्तित्व है उसको भी खो जाएंगे जो जाने वाले तो जाएंगे तो जाते समय में जो आपका स्वरूप है उसको भी भुलवा करके जाएंगे इसलिए अनहंकार सम दुख सुखा दुख और सुख में समान भाव हाँ सुख मिल रहा है कब तक रहेगा कोई ठिकाना नहीं दुख का सुख भी जाएगा दुख का है वो भी चलेगा इसलिए समर्थ तो भाव क्षमी क्षमी बोल तो क्षमा करना सामने वाला कितना भी आपको परेशान कर रहे तभी भी भगवान से प्रार्थना करें भगवान ये जानता नहीं ये मूर्ख है इसलिए कर रहे हैं उनकी बुद्धि सुधारे इस प्रकार विचार करें क्षमा भाव आगे भी बता रहे थे चौदह में संतुष्ट सततम सततम संतुष्ट कभी कभी नहीं बढ़िया भंडारा मिल गया उस समय में नहीं सभी समय हर समय में प्रसन्नता योगी ही जो योगी है संतुष्ट जो योगी साधना में लगा है चिंतन में लगा है ऐसे कोई होगी कैसे योगी यथात्मा यथात्मा मतलब संयम संयमित अंतकरण यहाँ अंतकरण है क्योंकि आत्मा का कोई संयम नहीं होता है वो स्वतः संयम है वो तो संयम करने की आवश्यकता नहीं इसलिए यथात्मा मतलब संयमित चिंतन दृढ़ निश्चय लेकिन हम निश्चय तो करते ही बाद में वो निश्चय डावाडोल होता है और उनका निश्चय बस एकदम निश्चय मुझे साधना करना है परमात्मा को प्राप्त करना है करना ही है उसमें कोई समझौता नहीं साधना के विषय में अपना कल्याण के विषय में कभी समझौता नहीं करना चाहिए संसार के विषय में भले भी करो कोई आपत्ति नहीं है तो इसलिए दृढ़ निश्चय है मय्यार्पितमनो मनोबुद्धि हे अर्जुन जिसका मन और बुद्धि है मुझे अर्पण किया लेकिन ये भी भगवान बोल रहे बुद्धि और मन मुझे अर्पण और आपको कोई मुझे नहीं चाहिए किंतु हम ये दो नहीं देते बाकी सब कुछ देते भगवान को नहीं चाहिए वो देते हम भगवान जो मांग रहे वो नहीं देते इसलिए बोले मई अर्पिता मई परमात्मा नहीं उसमें जो अर्पित है मन और बुद्धि सदा ये मन और बुद्धि संसार को नहीं संसार में रहे संसार का काम करे किंतु मन संसार को नहीं देना चाहिए मन परमात्मा को देना काम संसार का करे मन परमात्मा को देना तो मैया अर्पिता मनो ऐसे जो मद भक्ता निर्गुण भक्त समय प्रिया वो मुझे अत्यंत प्रिय है अर्जुन वो अत्यंत प्रिय है और बता रहे उसका लक्षण मोह मोहते लोका जिस भक्त से कोई संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं करते देखिए कभी कभी देखा जाता है किसी व्यक्ति को देखकर एकाएक उसके अंदर देखने की इच्छा नहीं होती उद्वेग उत्पन्न किसी किसी व्यक्ति को देखते हुए उसके साथ और भी देंगे उसके पास पहले ही चाहते तो इसलिए बोले जिससे लोगों नोद्विजते अर्थात लोग उससे उद्वेग मतलब आवेश को प्राप्त नहीं करते लोकात्मोद्विजते जा और किसी से भी वो भी उद्वेग को प्राप्त नहीं करता तो किसी से वो क्षुब्ध भी नहीं होता उससे कोई शुद्ध नहीं होते और वो भी शुद्ध नहीं होता किसी से हर्ष अमर्ष हर्ष हो अथवा अमर्ष अमर्ष कहते हैं दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अर्थात ये इतना बड़ा हो गया भाई तो यही रहा कैसे हुआ गर्भ हो गया ये अंदर अंदर जो जल जाता है दूसरे की उन्नति को देखकर इसको कहते हैं अमर्ष चाहे तो हर्ष हो अथवा अमर्ष हो दूसरे को देखकर जल जाता है भय और उद्वेग हर्षामर्षा भय उद्वेग भय में हो अथवा उद्वेग में मुक्त मुक्त बोल तो रहित हर्ष से भी रहित है अमर्ष से भी रहित है भय और उद्वेग से भी रहते उपलक्षण लीजिए राग द्वेष आदि से भी रहते कोई है नहीं यह जो निर्गुण भाषा है सचा वही में प्रिय वो मुझे प्रिय है और भी बता रहे हैं उसका लक्षण देखिए अनपेक्षा अर्थात वो अनपेक्ष है अपेक्षा कहते हैं इच्छा ये मुझे मिले ये मुझे मिले इसी प्रकार वो आकांक्षा है आकांक्षा का नाम है अपेक्षा संसार में हम किसी ना किसी के प्रति अपेक्षा करके बैठे हैं उससे मुझे कुछ मिले उससे कुछ मिले किंतु मिलेगा कुछ नहीं यदि मिल भी गया अंततः वो हाथ से होने वाला है इसलिए यहाँ ये जो ज्ञानी है निर्गुण भक्त है वो अनापेक्ष किसी में भी आकांक्षा नहीं आकांक्षा रहित है इज्ज से रहित है तो अनापेक्ष शुचिर वो अत्यंत शुचि रहता है पवित्र रहता है दो प्रकार की पवित्र माना है बाह्याभ्यंतरश्चा श्रुति में बता बाहर शरीर से भी अत्यंत पवित्र है मन भी इतना निर्मल है उसका निर्मल है बहुत पवित्र है जब तक मन पवित्र ना हो जब तक मन निर्मल ना हो तब तक ये जो तत्व है वेदांत हम धारण नहीं कर सकते देखिए हम सुनते हैं वेदांत सुनते ये भी शब्द है शास्त्र का वचन है गुरुओं का वचन एक बाह्य शब्द हम सुनते हैं व्यावहारिक शब्द सुनते हुए हम लोगों को चोट पहुंचाना है शांत का वजन से क्यों नहीं चोट पहुंच रहा है रास्ते में जा रहे हैं किसी ने कहा अरे मूर्ख तो वहां से शुरू हो गए झगड़ा एक मूर्ख शब्द प्रयोग किया और सुनकर उसको चोट पहुंच गया मुझे जो मूर्ख बता दिया तो झगड़ा हो गया अब यहाँ शास्त्र तो बार बार आता है तेरा जन्म तो नहीं हुआ है ना थे प्रिय तुम संसार नहीं हो तो क्यों नहीं इसको हम ग्रहण कर कारण लौकिक शब्द है उसके तो हम ग्रहण किया ये क्यों नहीं कर रहे कारण ये है लौकिक शब्द भी कठोर है और हमारा अंतकरण भी कठोर कठोर का मतलब राग द्वेष काम क्रोध आश्रित भर करके जैसा पत्थर को पत्थर मारने से क्या अग्नि उत्पन्न होती तो कठोर शब्द ने कठोर अंतकरण में मारने से उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ और यदि पुष्प की पंखुड़ी है अब पत्थर के ऊपर फेंक दीजिए तो क्या होगा गिर जाएगा वैसे ही वेदांत वाक्य है श्रुति वाक्य है पुष्प के पंकुड़ के समान को है और हमारा अंतकरण है पत्थर के जैसे कठोर हुआ है राग द्वेष काम को ये पुष्प जाके उसको स्पर्श हो तो जाते हैं गिर जाते हैं पकड़ते हैं और उसी अंतकरण में जब माकन बना दीजिए माखन के ऊपर आप पुष्प का पंकुड़ी फेंक दीजिए चिपक जाए तो मादन बनाने का मतलब राग द्वेश आदि हटाकर शुद्ध हो तभी जाके वेदांत वाक्य मालूम इसलिए हम बता रहे वो शुचि अंदर भी है बाहर भी और दक्ष दक्ष का मतलब कुशल कोई भी कार्य उसके सामने उपस्थित हो एकाएक निर्णय लेने के लिए हो सकता सोचता नहीं तुरंत है भाष्यकार बोल रहे प्रत्युत्पन्न प्रत्युत्पन्नेषु कार्यु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ कोई भी भयंकर से भयंकर कर्तव्य सामने आने पर भी निश्चित करने में समर्थ तुरंत निश्चय करता है दक्ष है और उदासीन देखिए उदास और उदासीन में बहुत अंतर है उदास उसको कहते हैं किसी वस्तु को आपने इच्छा प्राप्त कर ली नहीं मिले अब उदास हो गए उदासीन का मतलब है राग द्वेष से रहित भगवान राम जी सदा उदासीन रहते थे किसी में लगाव नहीं वो उदासीन होता है और किसी वस्तु को इच्छा करने के बाद आपको इच्छा पूर्ण नहीं होते तभी उदास होता है बोलते आज क्यों उदास हो आप बोलते उदासीन नहीं बोलते वो इसलिए हम रहे उदासीन उदासीन बोलने भाष्यकार बोल रहे हैं कश्यपित चाहे तो मित्र हो अथवा शत्रु हो किसी के प्रति मित्र आदि के ना पक्षपात न शत्रु के प्रति ना उपेक्षा तो उदासीन गतव्यता सारी व्यता है निकल गई उसके अंदर कोई भी चिंता नहीं कोई भी व्यता नहीं क्या होगा कोई चिंता नहीं यद भावे तद भावे जो होना तो होगा ही इसमें कोई चिंता नहीं सर्वारंभ परित्याग जितने भी जो आरंभ करने योग्य है कर्म सर्वारंभ प्रारंभ करने योग्य कर्म सारे कर्मों को आरंभ करने योग्य उनको त्याग दिया क्योंकि नारद परिवराज उपनिषद में कहा गया है कर्मणा वर्तते जंतु और विद्या प्रयुज्यते तस्मा कर्म न यदया पारदर्शन कर्म के द्वारा बंधन में पड़ते विद्य के द्वारा मुक्त होते इसलिए जो यति लोग है साधक लोग है कर्म न कुरंती नारद इसलिए सर्वारंभ कर ऐसे जो भक्त है मेरा प्रिय है और भी बता रहे यो इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता है अज्ञानी व्यक्ति इष्ट प्राप्त होने पर इतना मस्त नाचता है खूब बहुत हर्षित होता है उनको ये पता नहीं वो दुख हो जाएंगे मुझे दुख हो जाएंगे वो हो जाता है हर्षित होने न द्वेष्टि अप्रिय उसको आने पर मैं द्वेष भी नहीं करता द्वेशाज्ञानी है अप्रिय वस्तु से द्वेष करता है इसलिए न रिश्यतु न और न शोचनीय न वो शोक भी करता है अरे शोक किसके लिए किया जाता है जो आत्मा स्वरूप है इसलिए ना शोचनी और न कांक्षति कांक्षति मतलब चाहना शुभ कर्म का फल किसी की भी इच्छा नहीं भाष्यकार बोले शुभाशुभे कर्मणी परित्यक्तम शीला इसलिए नाकांक्षित बोलो किसी का भी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा ही बंधन का कारण मानता है और इच्छा का कोई सीमा नहीं है कहा जाके रोकती है तो इसलिए बोले की और ना शुभ शुभाशुभ परित्यागी शुभ कर्म हो शुभ मतलब पुण्य कर्म अशुभ का मतलब पाप का तो शुभ कर्म को भी उन्होंने त्याग दिया और अशुभ कर्म को भी त्याग दिया केवल मेरे स्वरूप में जो रहता है हे अर्जुन स में प्रिय ऐसा जो भक्ति वाला है वो मुझे सबसे प्रिय है और भी बता देंगे समा शत्रु च मित्र शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं तथा मानापमान चाहे तो उसका सम्मान करो फूल चढ़ाओ अथवा उसका अपमान भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जानता है सम्मान कर रहे शरीर का अपमान कर रहे शरीर का जैसा गाढ़ा निद्र में सोए है सुसुप्ति में आपके ऊपर किसी ने पुष्प चढ़ा दिया सुगंध आदि चढ़ा दिया क्या प्रसन्न होते हैं अथवा आप सोए आपके ऊपर किसी डाल दिया क्या दुखी होते नहीं होते इसलिए सम्मान और अपमान ही शरीर को लेके होता है मैं तो दृष्टा हूं इसलिए माना भाव से परे होता है शीतोष्ण सुख दुख के शीत है उष्ण है राग है सब में समान है संग विवर्जिता किसी के साथ संग नहीं यदि संग है केवल दृष्ट के साथ आत्मा के साथ अनाथ संघ विवर्तित होता है ऐसा ये निर्गुण उपासक है और भी बता रहे देखिए में तुल्य निंदा स्तुल्य स्वभाव निंदा स्तुल्य तुल्य यदि निंदा कर रहे उसमें भी समान कोई स्तुति कर रहे उसमें भी समान क्योंकि आज स्तुति कर रहे कल निंदा करेंगे संसार है आज निंदा कर रहे कल वही स्तुति करेंगे इसलिए तुल्य है समान रहते निंदा और मौनी मौनी का मतलब निरंतर मनन करने वाला मौन का दो अर्थ होता है वाक संयम भी मौन माना जाता है मन का संयम भी मौन माना जाता है मौन दो प्रकार का है एक आकर्म दूसरा काष्टम वाणी के द्वारा हम नहीं बोलते हैं वो आकर मौन बोलते मन में चिंतन करते संकेत करते वो जो मौन है बुलाते गुस्से भी होते संकेत भी करते तो काष्ट मौन है वो संकेत भी नहीं करता है लकड़ी के समान कुछ नहीं किंतु यहां मौनी का मतलब निरंतर परमात्मा का चिंतन में रहता है और किसी का नहीं एन न के संतुष्टा जो कुछ मिला शरीर निर्वाह करने के लिए उसमें संतुष्ट वो चाहिए ये चाहिए नहीं जो अनुकूल मिल गया उसमें ही वो संतुष्ट रहता है अनिकेत अनिकेत निकेत मतलब रहने का स्थान घर जैसे वहाँ नचिकेता अतः रहने का स्थान में कोई ममता नहीं चाहे तो शरीर भी रहने का स्थान है उसका अथवा शरीर रहने का स्थान मकान दोनों में क्या है कोई ममता अनिकेत स्थिर मति बुद्धि उनकी बिल्कुल एक स्थिर हो गई तृष्णा में ही स्थिर हो गई इसलिए स्थिर मति ऐसे जो भक्त है हे अर्जुन सबसे मुझे प्रिय है इससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं इस प्रकार ये लक्षण बताने के बाद ज्ञानी का देखिए ज्ञानी का लक्षण है साधक के लिए साधना ज्ञानी का जो लक्षण होता है साधक के लिए साधना होती है तो उसके बाद अंतिम में उपसंहार कर रहे बारहवाध्याय ये तो धर्म्यामृतम इदम ये तो बोल तो जो धर्म्यामृतम धर्म्यामृतम तो धर्म संबंध अमृतम इदम ये जो मैंने बताया था ये अमृत है क्यों अमृतत्व के ओर ले जाने के कारण इसको अमृत कहा गया ये तो उत्तम उपासक ये तो, बोलो जैसा मैंने बताया उन लक्षणों से अथवा उन साधनों से युक्त होकर जो उपासना करता है वो भी कैसा है श्रद्धा धाना श्रद्धा पूर्वक ऐसा नहीं बिना श्रद्धा से नहीं है मत परमा मत परमा बोल तो परमात्मा ही मेरा एक है और दूसरा कोई इस प्रकार यदि कोई उपासना करता है हे अर्जुन भक्तस्ते अधिवम प्रिय वो भक्त अत्यंत प्रिय है उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है इस प्रकार ये बारहवें अध्याय को लेकर हम लोग यथामति विचार किया सायकाल से हम लोग सोलहवें अध्याय में प्रवेश करेंगे तेरहवें अध्याय से सुना रहे मंडलेश्वर जी ने सुना दिया था आगे का लिंग स्वामी जी चला रहे हैं हम लोग सोलह से विचार करेंगे सायंकाल ओम शांति शांति